मै पुुत्र बधु प्रिय पाए रूप गुण शील सुहा नयनपुतरि करे प्रीति बढ़ाए राखे उप्राण कलप हारे जेबे बहु विझलाने ह सलिल प्रतिपा फलत भय बेधिबामा जाने न जाए कह परिणाम फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं इन्हें कल्पतरु के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है अब इस लता के फूल ने फलने के समय विधाता वाम हो गए कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा पलंग पीठ तजी गोदहिरा दे न पगो अवने कठोरा जन मोरे जगवतह दीप बात नहे तार चलन चहते बनसा थाय सुकागुला चन्द रस रसिक चको रे रबि रुख नयन सकहे के मिजोरी सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है हे रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है करके हर से चर चर है दुष्ट जंतु बन भूरी विषवाटिका के सोह सुत सुभग सजीवन मोरी हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं हे पुत्र क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है बनहित कोल किरात किशोरी रति बिरञ्चे चे विषय सुख भोरि पहन कृमि कठिन कले सुन कानन कार्यसय कानन जोगो जिन्ह तपहे तो सजा सब भोगो थिय बन बसहे तात के भाते चित्र लिखित कपे देखे डराए वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं हे पुत्र जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगे सुर सर सुभग बनज बन चारे डाबर जोग के हंस कुमारे अस विचार जस आयस हो मैं सिख देऊँ जान के ही जोशिय भवन रह कहयम्बा मोहि कह ये बहुत अवलम्बा सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी से मिल सनेह सुधा जनुसारी देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य हैं ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ माता कहती हैं यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी कही प्रिय बचन बेबे कीढ़ मात परितोष लगे प्रबोधन जान के प्रगति विपिन गुण दोष विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे